भगवद्भजनाम महाताम पुण्य पुण्य श्लोक युद्ध कर्मणा और दधीश जी महर्षि बिल्कुल जब लड़ गए और देवताओं का क्या करना चाहिए तो देवता बोले महाराज नन स्वार्थ करो को नवेद दर्शन करो ये संसार प्राप्ति है दूसरे के दुख को नहीं जानता है आपको शरीर छोड़ने में कितना कष्ट होता है होगा इस बात को हम क्या जाने और यदि भेद नहीं आते था तो अगर हम इस बात को जानते तो मांगते ही ना आपसे आपका शरीर और वे बिना आप हमारी आवश्यकता को नहीं जानते इसलिए ना कर रहे देवताओं ने बात कही इन तो ऐसे तो सूख ना पा करते सूख बहुत अच्छी उक्ति मांगने वाले को तो देने वाले के दुष्ट का पता नहीं कि देने वाली बड़ी वस्तु देने में खर्च से भी किसी ने कह दिया सेठ जी मंगल हमको दे दो दो चार दिन के लिए और ये पता नहीं है सेठ जी को कितनी जरूरत है मीटर की मोटर से उनका कितना है तो मांगने वाला ये नहीं जानता उनसे अपनी वस्तु देने में कितना कष्ट होता और देने वाला इसलिए मांग रखता है और देने वाला ये नहीं जानता तो इसको कितनी आवश्यकता है जब मांग रहा तो देने वाले को तो मांगने वाले की हृदय का पता नहीं और मांगने वाले को देने वाले के कष्ट का पता नहीं इसलिए वो मांग बैठता है वो मना कर देता है न स्वास्थ्य करो लोको न वेद प्रसन्न कथम यद वेद न जाते तो नेतना ईश्वर इसलिए ये बात कही तो वह प्रसन्न होकर के गरीब जी महर्षि बोले अरे भाई हम तो तुम्हारे मुख से कोई अच्छी बात सुनना चाहते थे अब हम इस शरीर का क्या करेंगे जो हमने करना था तो कर लिया तो लोग तुम्हारे अगर इस शरीर से तुम्हारा काम चल रहा है तो इस तुम्हारे लिए शरीर को हम छोड़ देते हैं इस नश्वर शरीर से जो दूसरों पर दया नहीं करता परोपकार नहीं करता उसके लिए तो वृक्ष भी शोध करते हैं ऐसा कह करके दधी की मार्सी और समाज में स्थित हो गए और उन्होंने एक बात कही तो देवताओं हमारी एक इच्छा रह गई बोले महाराज क्या हमारी ये इच्छा थी कि हम भारत वर्ष में संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण रहे उनका दर्शन करें तो हम कहीं जान नहीं पाओगे तीर्थ यात्रा कर नहीं पाओगे यही रहे पर हमारी इच्छा अवश्य थी कि भारत वर्ष के तीर्थों में एक बार घूम लें तो ने कहा महाराज लोग हम सारे तीर्थों को यही बुलाए थे पृथ्व्याम राम तीर्थान प्राण कल्याण नहीं मुझे इंद्र ने सारे तीर्थों का वाहन सब वहां तीर्थ जो जहां का ये ये अयोध्या है ये वृंदावन है ये फलाना ये सब मैं कल्पित किए फिर उन्होंने और समाहित होकर के ने शरीर का त्याग कर दिया देवताओं ने उनके शरीर को ले जाकर के विश्वकर्मा को दिया विश्वकर्मा ने उसका वज्र बना दिया उस वज्र को हाथ में लेकर के और इंद्र जो है युद्ध में सामने शासन कहता है अरे ओ नमची ये शंबर हे अनर्वा मूर्धा हे ऋषभ अरे तुम क्यों भाग रहे हो क्या जहां भाग करके जाओगे वहां तुम्हें मृत्यु छोड़ देगी जहां जाओगे वहां भी मरना पड़ेगा जातक से मृत्यु हो ध्रुवे सर्वदा जो पैदा हुआ है उसे मरना है से जातस्य बता प्रतिक्रिया प्रतिक्रियायस्य न क्लिप्ता लोके यशस्ा मृत्यु भरम को मृत्युम् वरन्तो युक्त तो जो उत्पन्न हुआ है उसको मरना पड़ेगा उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है मृत्यु की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर आज तक कोई मृत्यु की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता ब्रह्मचारी प्रवृत्ति जो है जो अपनी कथा लिखी है भागवती और तेरा लॉजिस्ट बहुत बढ़िया नहीं है उसमें उन्होंने एक कथा लिखी उन्होंने भागवती कथा भी लिखी है उसमें उन्होंने एक कथा कई पुराण की लिखी थी

उन्होंने ये कथा लिखी है कि एक बार व्यास जी जिस मलाह के यहां रहे थे मल्हा के यहां रहे थे जब तो उनकी माता तो मछली के पेट से निकली थी एक मल्हा ने उनको डाला था उससे व्यास जी का प्राकट किया है तो उसमें एक दिन मल्हा ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज मुझे मरने के बहुत डर लगता है हमको अमर कर दे अमर बना दे तो नारद जी ने कहा भाई अमर तो हम भी इस शरीर से नहीं है हम तेरे को अमर कैसे कर नहीं महाराज आप मेरे को अमर कर दीजिए आप भगवान के धर्म भक्त हैं समर्थ हैं तो नारद जी ने कहा अरे जिन्हें तेरे यहां जो रहे हैं उन्हें जिस लड़की का पालन पोषण किया उसके जो पुत्र व्यास हैं जो समर्थ हैं वो तो भगवान का अवतार है और तू उनकी शरण में चला जा वो तुझे अमर कर दे को अमर कर दें चलो तो तुम्हें यमराज के पास ले चलते हैं वो तुमको मृत्यु का आदर न दें ये हम सिफारिश तुम्हारी कर देंगे तो ब्यास जी अपने योग बल से उस मलाह को साथ में लेकर के यमराज के पास पहुंचे यमराज ने देखा साहब जी यहां कैसे आए हैं उन्होंने ब्यास जी का पूजन किया महाराज कृपा करके बताओ कैसे पधारे व्यास जी ने कहा कि हम इसलिए आए हैं कि इन ये इनको मरने में बहुत बड़ा लगता है ये हमारे नाना जी हैं और इनको आप मृत्यु के लिए आदर बनाए यमराज बोले महाराज कुछ दिन कुछ देर पहले आप आते हो तो मैं इसका विचार नहीं करता तो नेत्रवृत्ति के लिए आदर देख लो तो आप क्या हो कि चलो हम मृत्यु देवता के पास चलते हैं तो यमराज जी और व्यास जी भी और माला को लेकर के मृत्यु देवता के पास और मृत्यु देवता हाथ देख के खड़ा हो गया आज यमराज मेरे यहां कैसे आए हैं व्यास जी भी साथ हैं महाराज भैया क्या हुआ यमराज ने कहा ये व्यास जी आए हैं और ये कह रहे हैं तो हमने तुमको आदर दिया है इसके मृत्यु देवता को इसकी मृत्यु का जो समय तुमने व्यतीत किया है तो इसको तुम रद्द कर दो और तो मृत्यु देवता बोला महाराज ऐसा कोई दृष्टांत बताओ तो जो तुम्हारा आदेश आज तक रद्द हुआ हो उसके बिना तो मैं इसको रद्द नहीं कर सकता मैं तो ये देख रहा था कि इसकी मृत्यु उस समय लिखी है कि जिस समय व्यास जी भी हों और यमराज भी हों और मैं भी हूं तो मैं ये सोच रहा था कि ये ऐसा तो समय कैसे आएगा तो ये तो ये इस तरह मृत्यु का समय ही है और जो हो जाएगा अभी आप मुझे तो ये मृत्यु की प्रतिक्रिया नहीं है जागृत मृत्यु ग्रह एक बता प्रतिक्रिया जन चेहर उसको बताइए एक जो ठीक हो गए हाँ, ठीक तो वृत्तासुर कहता है इसलिए फिर तुम क्यों डर करके भाग रहे और फिर वृत्तासुर ने देवताओं से कहा अरे जो भाग रहे हैं उनके पीछे तुम क्या करो अरे तुम मेरे सामने आके करो एक क्षत्रा यदि युद्धे था तभी मैं अपने क्षण तुष्ट मेरे आगे पूरा क्षण तैरत थी ऐसा कह करके वो उसने बड़ी गर्जना की और दुर्गापुर ने ऐसी जोर से गर्जना की कि देवता लोग पृथ्वी पर गिर गए हाथ में त्रिशूल लेकर के देवताओं को पैरों से कुचल ले जाती और उसके अनंतर तद विरोध के क्रोधा इंद्र इंद्र ने क्रोध में आकर के गदा हाथ में लेकर के और वृत्तासुर पर एक गदा का प्रभाव किया वृत्तासुर ने गदा अपने बाएं हाथ में ली और उस गदा को लेकर के हाथी के मस्तक पर मारा हाथी का मस्तक फट गया है और उससे हाथी अट्ठाईस हाथ पीछे रख गया चंद्र ने तो अपना जो अंडा हाथी का उस पर उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथी स्वस्थ गतव्य था स्वस्थ हो गया वृत्रासुर ने इंद्र को अपने सामने देखा और कहा इंद्र तम ब्रह्म गुरु भ्रातृ अतः स्वाम भ्रातृ ऋणात् मुक्तो भवान अरे तू ब्राह्मण को मारने वाला है मेरे भाई को तैने मारा है और तेरा वो गुरु था इस तरह से अरे सुरेश तस्मान हेणो शिवचिरम तुरस्ते वैदेन मई अरोह पहले हजारों आदमी में सब लोग सुनते ही थे और बोलने की शक्ति थी देखा सब लोग अभिनियंत्रों से सुनने की शक्ति कम हो गई बोलने की नहीं सकता में भी शक्ति थी और सुनने दिखाने में भी शक्ति थी इसके सामने बोलने से और इसकी बात सुनने से इसके अधीन हो गया वृद्धासुर कहता है इंद्र से हो इंद्र और तुम तो उस बच्चे से मेरा सिर जमीन काट लेते सुरेश तस्मान हिरोश वज्रम थे गंगे ने मई अमृतम मैं तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा हूं अपने वज्र से मेरा तेरे साथ ले ये मत समझना कि जैसे तेरी गदा का प्रहार व्यर्थ गया है ऐसे तेरा वज्र का प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा क्यों ये तो गदी की महर्षि की हड्डियों से बना हुआ है हाँ इसलिए शत्रु मुझे यत्र हरि तत्व विजय तेरी विजय निश्चित है क्यों भगवान कृष्ण ने तेरे पक्ष में और जिस समय तू मेरा सिर काटेगा उस समय मैं अपना मन भगवान के चरण में लगा दूंगा अहम समाधाय मनोयथा हो शंकर चरण चरणों में अपना मन लगा दूंगा तो तेरा वज्र मेरा केवल ये शरीर नहीं काटेगा मेरी अनादि अविद्या की जो बंधन है वो बंधन को ही काट गए मैं जन्मरण के चक्कर से छूट जाऊंगा तो इस प्रकार से वो अपनी विजय की अपेक्षा मृत्यु को उसने श्रेष्ठ माना दुखा करने और फिर भगवान की प्रार्थना करने लगा इंद्र से ऐसे बातचीत करते करते भगवान का स्मरण हो रहा है और भगवान की स्तुति भगवान से प्रार्थना कर रहा है हरिम प्राप्त है अहम हरे तव पादंत मूलो दासानुदासो भवितास्म भूय हे भगवान मैं आपके चरणों के जो दास हैं आपके जो भक्त हैं मैं उनका दास आपका दास सीधे सीधे आपका दास नहीं प्रेम मेरी योग्यता नहीं है मैं आपके दासों का दास बन जाऊंगी मेरा मन आपके स्वरूप का स्मरण करे एक दाननाथ मेरी वाणी आपके गुणगान करे मेरा ये शरीर आपके भक्तों की सेवा करे मैं स्वर्ग नहीं चाहता मैं ब्रह्मलोक नहीं जानता पृथ्वी का राज्य नहीं जानता पाताल का आधिपत्य नहीं जानता योगियों की सिद्धि हमको नहीं चाहिए मोक्ष भी मैं नहीं चाहता ये सौभाग्य मिले हम आपको छोड़ करके आपसे कुछ नहीं चाहते केवल आप ही गुजारते तो भगवान का भक्त भगवान को चाहता है और कुछ नहीं चाहता जैसे अजात पक्षा एवं परंपरा जिन पक्षियों के बच्चों के पंख नहीं आते वो अपनी माता को जैसे चिंतन करते रहते हैं भूखे बछड़े जैसे अपने दूध पीने के लिए माता का चिंतन करते हैं अभिद्रता स्त्री जैसे अपने पति का चिंतन करती है इसी प्रकार से एक कमल है मेरा मन आपके दर्शनों के लिए ललच रहा है मेरा कहीं भी जन्म हो और आपके भक्तों का संग हमको गए विषय विषयागत प्राणियों का संग हमको मिले इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रहा है वृंदावन में एक महात्मा थे प्रिया शरण जी महाराज ओम चारों श्लोकों की व्याख्या कर रहे वो कहते थे कि इस इन श्लोकों में चार श्लोकों में ये भक्तों के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बताए गए हैं कौन का धर्म और जो शास्त्र वेद है वो कर्म करना वालों का तो धर्म होता है भक्तों का धर्म क्या है भक्तों का धर्म ये है पहले श्लोक में बताया अहम हरे कल पादयिक मूलव दासान दातो दासन प्रिय भगवान के भक्तों की सेवा करना बोलो ये भक्तों का धर्म है भक्तों का अर्थ क्या है भक्तों का अर्थ है भगवान ही भगवान भक्तों के अर्थ है भगवान को कुछ मानना भगवान को जानना यही भक्तों का अर्थ है और जो है काम क्या है कि जैसे पति पतिव्रता स्त्री तो अपने पति का चिंतन करती है ऐसे भक्त भगवान का चिंतन करता है उनका मोक्ष क्या है कि भगवान के भक्तों में ही प्रेम होना विषय पुरुषों में प्रेम होना ये भक्तों का मोक्ष है ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं सूर्य जी कहते इस तरह से वो युद्ध के समय ये बातचीत कर रहा है और इंद्र ने एक के इंद्र के ऊपर तुमने जब मारा तो इंद्र ने सुना जान लिया था मध्य से अब एक हाथ रह गए उसने एक लोहे का डंडा लेकर के इंद्र की चोरी में मारा तो उसके हाथ से बट छूट करके नीचे गिर गए वृद्धास के कर्म का उसका प्रशंसा करने लगे देवता हाहाकार करने लगे इंद्र के हाथ में से वज्र गिर गया नीचे इंद्र बैठा धातु पर इंद्र पतितम वज्रम लज्जया पुनः नजर अब हाथी से उतर करके वो वज्र को नीचे आ गए पापन ले तो लज्जा के कारण वज्र नहीं उठाया उसने और उसको ये भी डर था कि मैं वज्र उठाने नीचे जाऊंगा एक डंडा और मार दे बच्चा को कहता है इंद्र वज्र में हाँ लज्जा मत करो डरो मत अपना वज्र अपने हाथ में लो और उससे मेरा तुम सिर काट लो ये खेत का समय नहीं है जय और विजय ये परमात्मा के अधीन होते हैं ये मधुबन जय से कठपुतली नचाने वाले के अधीन होती है ऐसे सारा विश्व परमात्मा के अधीन है एवं अत्या कुमार ईश्वरम जागरूक है इंद्र ये ये युद्ध है इसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है जय विजय जा, पहले नहीं जाने जाती किसी की किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी तो इसलिए तुम निर्भय होकर के अपना वज्र और अपने हाथ में लो और उससे मेरा सुख काट इंद्र ने उन उस वृत्तासुर के इन वचनों को सुना निष्कपट वाणी को सुन करके इंद्र बोले अबो दानव सिद्धो भाई हो तो तुम दानव कुल में तुम्हारा जन्म है पर तुम तो सिद्ध पुरुष हो भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति तुमने तो भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया सुखदेव जी कहते इसके अनंतर आपस में ऐसे बातचीत करते हुए युद्ध करने लगे दुष्प्रा परगिणी इंद्रम साधयामास एक पर्व लेकर के इंद्र के ऊपर मारा विप्रा तो उन्हें इंद्र ने उसकी वो भी काट दी अब दोनों बाहू उसकी कट गई वृत्तासुर ने फिर अपना मुंह फाड़ करके और हाथी के सहित इंद्र को जब वरेण हो जैसे कोई बड़ा अजगर जैसे हाथी को ले लिया ऐसे ऐरावा के का वज्रम चक्रा ऐरावत हाथी के तहत इंद्र को उसने ले लिया उधर में चला गया इंद्र परंतु नारायण कवच के प्रताप से इंद्र उसके पेट में जाकर के मरे नहीं वज्र से उसका पेट उन्होंने साफ दिया और इंद्र बाहर निकल रहा है और फिर उसका सिर काटने लगे तो कहते हैं वर्ष ही के लिए वृत्तो शुरू नेता एक वर्ष उनको पूरा लग गया काटते काटते काटते काटते जब उसका सिर काट बोलिए श्री कृष्ण वृद्धा को मर जाने के इंद्र को हत्या लगी फिर तो ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ करा करके फिर उसको अपराध से हत्या से उनको शुद्ध किया तब तक ये नहुष महाराज वो स्वर्ग का शासन करते रहे और परीक्षित ने ही पूछा भगवान आप कृपा करके ये तो बताओ कि वृद्धासुर जो है मेरा जो गुण तमोगुण स्वभाव वाला होने से भगवान की शक्ति उसके पास है ये तो देवताओं के लिए बड़ी दुर्लभ है देवादी नाम अपनी मुकुंद चरणी भक्त बहुला जाए थे देखो अनेक सहस्रों जीव होते हैं उनके उन जीवों के वर्ग में धर्मात्मा कोई कोई होता है उन धर्मात्माओं में भी मुमुक्ष कोई कोई होता है उन मुमुक्षुओं में भी जो है विरक्त कोई कोई होता है पुरुषों में भी मुक्त कोई जीवन मुक्ति किसी को मिलती है और उन मुक्तों में भी सहस्त्रों में कोई नारायण पारायण दुर्लभ मिलता है तो ये विकास को भगवान की भक्ति कहां से राजन सूर्य जी कहते हैं जब सुखदेव जी ने जब उसका प्रश्न सुना तो बोले राजन ये वित्तासुर की जो कथा है पूर्व जन्म की हमने अपने पिताजी से भी सुनी है और नारद जी ने भी सुनाई थी और देवल महर्षि के द्वारा सुनी ये तीन महापुरुषों के द्वारा इसकी अब पूर्व जन्म की कथा हमने सुनी है और तुमको सुनाते हैं सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का राजा था उसके स्त्री बहुत थी पहले समझा था ये कोई तो मौन कुछ क्या था दस से एक कोट भाग्या एक करोड़ कोई संख्या कोई दूसरी थी क्या एक